तीन बार ओम का उच्चारण सज्जनों कल हमने प्रार्थना से मिलने वाली सहायता क्या हो सकती है कैसे मिलती है मिल सकती है इसके कुछ पक्ष विपक्षों पर विचार किया और इनका प्रश्न जो साथ में था कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी चाहिए पूर्ण पुरुषार्थ से पहले यदि हम प्रार्थना करते हैं बीच में तो उससे क्या दोष आता है आवाज ठीक है ये इससे जुड़ी हुई बात थी कुछ और भी प्रश्न बीच बीच में रहे और महर्षि के वचनों को भी दो वचन देखे थे सत्या प्रकाश में और भी इस संबंध में जो लिखा हुआ है आप में से कितने सज्जन हैं जो इस विषय में कुछ विचार कर सके विचार किया कुछ वाक्यों को देखा कुछ निर्णय निकालने का प्रयास किया हाथ खड़ा करेंगे एक दो ठीक तो मैं सोचता हूं कि हम परिचर्चा को इसी रूप में रखें आप लोगों ने भी कुछ विचार किया प्रमाणों को देखा आपकी ओर से क्या निष्कर्ष आया क्या आपको ठीक लगा आप में से जो कुछ बोलना चाहते हो तो वो संकेत करेंगे कुछ बोलना चाहते हो सोमदेव जी और तेजी से ऊंचा बोलेंगे थोड़ा हम्म। कुछ पंखे बंद कर दें या तो एक तो इसको तो भले ही बंद कर दीजिए तो आवाज भी कुछ कम हो जाएगी आवश्यकता हो तो सोमदेव जी प्रार्थना पुरुषार्थ के पूर्ति होती है ऐसा भी विषय था पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है और प्रार्थना का फल सहायता महर्षि ने लिखी है ठीक है तो हाँ तो एक बिंदु ये हुआ कि प्रार्थना से वो फल पुरुषार्थ का फल शीघ्र भी मिल जाता है शीघ्र मिल जाता है ये उसका लाभ आप अतिरिक्त लाभ बता रहे हैं ठीक है इसको आप सहायता के रूप में देख रहे हैं दूसरा दूसरा जो हम चाहते हैं जो हम चाहते हैं फल जिस रूप में चाहते हैं अपने पुरुषार्थ का वो हमें मिलता है ठीक है निरभिमानता उत्साह भी प्रार्थना का फल माना हम किस पे केंद्रित हैं इनके अतिरिक्त महर्षि ने सहायता का प्राप्त होना भी लिखा है निरभिमानता और उत्साह इसके अतिरिक्त भी ये लिखा है हम इस अतिरिक्त भाग पर केंद्रित हैं हम मुख्य रूप से इस पर केंद्रित नहीं है कि प्रार्थना का फल होता है या नहीं या क्या होता है ये तो तीन फल हमारे को लिखे हुए मिल गए महर्षि का प्रमाण मिल गया इसमें से निरभिमानता और उत्साह इसको हमने अभी एक तरफ रखा है ये जो सहायता मिल रही है इसमें अब हमें निरभिमानता और उत्साह से भिन्न कोई चीज पता नहीं उसको लेना है ठीक है तो दो बातें इन्होंने कही एक तो फल शीघ्र मिलता है और जो हम चाहते हैं वो मिलता है <clears throat> इसमें थोड़ा एक स्पष्टीकरण के लिए मैं बात रखूं कि कामना और प्रार्थना इसको यदि हम अलग अलग कर लें कामना और प्रार्थना एक होता है अपने कर्म के अनुरूप फल की कामना करना मैंने ऐसा किया है और इसका यह फल मैं चाहता हूं ठीक है हमने अपनी कामना को प्रकट किया प्रार्थना नहीं की ये प्रार्थना नहीं है मैं ऐसा चाहता हूं ये कामना कामना पुरुषार्थ के पहले भी रहती है पुरुषार्थ के पहले रह सकती है कोई आपत्ति नहीं उसमें <clears throat> कोई निषेध नहीं है पुरुषार्थ करते समय भी कामना रह सकती है कि इस कर्म का मैं क्या फल चाहता हूं और पुरुषार्थ के बाद में भी रह सकती है ठीक है कामना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लेकिन प्रार्थना के लिए जो एक विशेष कथन हुआ कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है आपने जो बात रखी वो कुछ कामना से जुड़ी हुई है और कल भी जो आप प्रस्तुत कर रहे थे कि जैसा हमारा कर्माशय है उसका फल जो हम चाहते हैं वो मिल सकेगा वो कामना के संदर्भ में और मेरी भी जो बात आपने उद्धृत की कि आपने भी पहले ऐसा कहा था या कहता रहता हूं वो किस पे केंद्रित है कामना के ऊपर सकाम निष्काम आदि बात है तो किस कामना किस लक्ष्य किस उद्देश्य के लिए मैं इस कर्म को खर्च करना चाहता हूं पुण्य को खर्च करना चाहता हूं भाग्य को कर्माशय को इसका फल किस रूप में चाहता हूं ये एक कामना हो गई तो यदि हम कामना और प्रार्थना इन दो शब्दों को अलग अलग करते हैं यहां कौन नहीं आया कमल देव जी तेजेंद्र जी कहा गए है? अच्छा तो प्रार्थना में भी कामना रहती है प्रार्थना करते समय भी हमारी कुछ इच्छा रहती है कामना मतलब इच्छा रहती है कि ये मुझे प्राप्त हो और इच्छा से युक्त होकर के ही हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कामना और प्रार्थना को क्या हम अलग अलग करके देख सकते हैं और इस प्रसंग को हम केवल प्रार्थना तक केंद्रित रखें कामना वाली बात इसमें ना ले आए या आपको कामना और प्रार्थना एक ही दिख रही है या एक ही मान करके चल रहे हैं एक विचार का बिंदु एक ही दिख रही है जो कुछ भेद मैंने बताया अभी कामना और प्रार्थना मेरी कामना है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं और किसी को मैं कह रहा हूं कि कृपया मुझे इस विषय में बताइए ये प्रार्थना हो गई दूसरे से प्रार्थना करते हैं कामना हम पर निरपेक्ष स्वयं के लिए भी कर सकते हैं मेरी कामना है ऐसा होना चाहिए मैं किसी को कह नहीं रहा हूं सहायता के लिए निवेदन नहीं कर रहा हूं मेरी कामना है कि मेरा ऐसा ऐसा घर हो मेरे ऐसे ऐसे वस्त्र हों मेरी कामना है उसके लिए मैं भी प्रयत्नशील हो सकता हूं और किसी दूसरे को भी सहायता के लिए कह सकता हूं जब दूसरे को उस सहायता के लिए कहूंगा तो अब कामना के साथ में प्रार्थना भी जुड़ गई निवेदन जुड़ गया दूसरे से कुछ चाहते हैं और दूसरे से जब हम चाहते हैं प्रार्थना करते हैं उसको भी कामना शब्द से कहा जाता है मैं आपसे कामना रखता हूं मैं आपसे कामना करता हूं कि मुझे ये चीज प्रदान करें ये कामना शब्द का तो प्रयोग हो रहा है और कामना भी है लेकिन ये प्रार्थना रूप में है प्रार्थना दूसरे से की जाती है प्रार्थना दूसरे से की जाती है अपने आप में कोई प्रार्थना नहीं होती है हम कामना रख सकते हैं इच्छा रख सकते हैं पर निरपेक्ष और प्रार्थना हमेशा दूसरे के सापेक्ष होगी तो इस पूरी चिंतन धारा में जो हम विचार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं बात को समझना चाहते हैं तो यदि हम इसको मिला रहे हों और हम अलग अलग कर लें तो स्पष्टता रहेगी अभी भी क्या किसी को यू लगता है प्रार्थना और कामना तो एक ही चीज है या भिन्नता शिकार हो गई है समझ में आ गई है बोलिए तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो साथ में कामना होती ही है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब अंदर कामना होती है उसी को तो हम वाणी से प्रकट करते हैं वाणी छोड़िए मन से भी ईश्वर मन से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं लिख करके भी कैसे भी कर सकते हैं जब जब प्रार्थना होगी उसके पीछे कामना तो अवश्य होगी ठीक है और उसका मैंने निषेध भी नहीं किया है प्रार्थना के पीछे हमारी कोई ना कोई कामना होगी तभी तो हम प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए उसका तो निषेध नहीं है उसमें कोई मत भिन्नता नहीं है और मत भिन्नता नहीं है तो पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है तो वाद भी नहीं चलेगा चर्चा भी नहीं चलेगी उसमें मैंने इसके स्थल जो भिन्न स्थल है भेदक स्थल है वो बताए जहां केवल कामना है और प्रार्थना नहीं है यहां तो कामना प्रार्थना दोनों है इसलिए एक भी मान करके हम चल लेते हैं यद्यपि वहां भी दोनों भिन्न भिन्न है कामना के कारण से हम प्रार्थना करते हैं कारण कार्य संबंध है किंतु व्यवहार में हम प्रार्थना शब्द के स्थान पर कामना शब्द का भी प्रयोग करते हैं प्रार्थना करते हुए भी हम कामना शब्द का प्रयोग करते हैं वहां प्रार्थना और कामना एक मानी जा सकती है फिर भी कामना और प्रार्थना में कारण कार्य का संबंध है कामना कारण है और प्रार्थना कार्य है ठीक है इसमें तो कोई भिन्नता नहीं होगी स्वीकार होगा पर इससे अतिरिक्त कुछ स्थल मैं बता रहा हूं जहां कामना तो होती है और प्रार्थना नहीं होती है ये बताने के लिए कि प्रार्थना और कामना एक चीज नहीं है कामना के और प्रार्थना में एक भेदक मैंने बताया भिन्नता कि कामना पर निरपेक्ष हो सकती है जिसमें सामने कोई भी नहीं है हमारे अंदर इस इच्छा है मैं बहुत स्वस्थ होना चाहता हूं मैं बहुत विद्वान होना चाहता हूं मैं बहुत सुंदर दिखना चाहता हूं मैं बहुत धनवान होना चाहता हूं अन्यों का सहयोग हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन कामना के समय मैं अपने प्रति स्वयं में एक इच्छा कामना कर सकता हूं दूसरे से निरपेक्ष लेकिन प्रार्थना के समय दूसरा कोई ना कोई अवश्य रहेगा मनुष्य रहे परमात्मा रहे कोई भी रहे प्रार्थना क्या कभी कोई ऐसा स्थल दिखाई देता है आपको जहां दूसरा कोई नहीं हो और हम प्रार्थना कर रहे हैं तो इससे दोनों का भेद क्या नहीं हो जाता अभी भी आपको एक ही लग रहा है जैसे दूसरा कोई नहीं है वो हम प्रार्थना नहीं कर रहे ठीक है लेकिन जहाँ प्रार्थना कर रहे हैं दूसरा होता है वहाँ कामना से कर तो, तो आप जो कह रहे हो उसका मैंने निषेध का किया मैं तो उसी समय स्वीकार किया ना ये तो मैं कह ही रहा हूं जब जब प्रार्थना होती है उसके पीछे कामना होती है बिल्कुल स्वीकार्य है बात ये जब जब कामना नहीं होती है वहां प्रार्थना को ये जरूरी नहीं नहीं जब जब कामना का, एक मिनट जब जब कामना नहीं होती वहां वहां प्रार्थना भी नहीं होगी ऐसे, नहीं आप दो बात मिश्रित कर गए थे एक बात होगी यू करेंगे प्रार्थना जहां पर है तो कामना अवश्य रहेगी आप स्वयं देखिए आपको स्वीकार्य होता है नहीं होता है दूसरा यदि कामना नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं होगी ठीक है ये दूसरा कह रहा था जब जब कामना होगी तब तब प्रार्थना हो ये जरूरी नहीं है ये तीसरी बात है वो आप यही बात ठीक है अब ये एक अलग बात ठीक है ये आप जो कह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है वो भेदक लक्षण जो मैंने भी बोला था कि कामना हो तब प्रार्थना हो यह आवश्यक नहीं है प्रार्थना हो उसके पीछे कामना अवश्य होगी लेकिन कामना हो और प्रार्थना हो ही ये आवश्यक नहीं है जो वैशेषिक की दृष्टि से भी हम जो बोलते हैं कारण और कार्य के संबंध में कार्य है तो कारण अवश्य होगा लेकिन कारण हो तो कार्य भी होगा यह आवश्यक नहीं है बिल्कुल वही बात है कारणाभावात कार्याभाव कारण का अभाव है तो कार्य का भी अभाव होगा कामना नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं होगी न तो कार्याभावात कारणाभाव कार्य का अभाव है इससे कारण का अभाव हो जाए यह आवश्यक नहीं है प्रार्थना नहीं है तो कामना भी नहीं है ये आवश्यक नहीं है बिना प्रार्थना के भी कामना हो सकती है तो पहले एक इतने से बिंदु पे जो अभी आपके सामने रखा उसकी अगर किसी को इसमें अस्पष्टता है या स्वीकार नहीं हो रहा है कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए हाँ सोमदेव जी अच्छा प्रार्थना प्रार्थना चाहे तो बना सकते हैं और केवल कामना रख सकते हैं तो कामना भी रख सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसे कामना तक ही रखना चाहते हैं या प्रार्थना भी करना चाहते हैं ये जो हमारा प्रसंग है ये प्रार्थना का है जिसमें कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं या अपने से बलवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भी मुख्य विषय हमारा ईश्वर से संबंधित है तो यदि केवल कामना है तो वो कामना ईश्वर हमारी पूर्ण करेगा वो कर्मों के अनुसार ही करेगा उसमें कोई अतिरिक्त फल अतिरिक्त सहायता वाला प्रश्न ही नहीं है कामना करने में अतिरिक्त सहायता वाला प्रश्न नहीं है वहां तो जैसा कर्म है उसको उसका फल हमारी इच्छा के अनुसार दिया जा रहा है बस ठीक है प्रार्थना कहा महर्षि के शब्दों में पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ये एक विशेष संदर्भ शुरू किया उन्होंने और दूसरे में सामर्थ्य के बाद अपने, अपने सामर्थ्य को करके सही इसमें स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश वाला जो है अपने सामर्थ्य के उपरांत ठीक है हाँ सुनते जी जी हाँ इसीलिए तो इस पर प्रश्न है इसीलिए तो अड़चन आती है कि यदि कर्म कल जो भी बात ये रखी है कि यदि प्रार्थना के बाद भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिल रहा है तो प्रार्थना की क्या आवश्यकता है अब इसमें निरभिमानता को मत ले आना वो तो लाभ होना ही है प्रार्थना को पूर्ण निरर्थक नहीं कह रहे ये जो अतिरिक्त सहायता मिल रही है उस दृष्टि से प्रार्थना की क्या आवश्यकता है ये प्रश्न इतना सा अगर कर्माशय के अनुसार ही मिलता है तो पर प्रार्थना से सहाय का भी मिलना ये भी जो कथन हो रहा है तो इससे प्रतीति ये हो रही है ये पुरुषार्थ से कर्माशय से जो फल मिलेगा उसके अतिरिक्त कुछ फल मिलेगा और वो अतिरिक्त फल निराभिमानता और उत्साह वो मत लाना वो अलग ही रहेगा उसके अतिरिक्त कुछ मिलना चाहिए ऐसी इसमें प्रतीति है और इसीलिए यहां पर उलझन है जहां खड़े एक कदम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं <laughs> मान लीजिए ये एक बिंदु विचार के लिए लग रहा है कि कामना एक अलग बात है और प्रार्थना एक अलग बात है ठीक है वो उसको उस संदर्भ को यदि हम प्रार्थना शब्द का प्रयोग है लेकिन उसको कामना के संदर्भ में ही हम देखें कामना के संदर्भ में अभी हम जो विचार कर रहे हैं वो महर्षि के इस वचन के संदर्भ में बात कर रहे हैं और इस वचन का संदर्भ प्रसंग ये प्रतीत हो रहा है कि कर्माशय से भिन्न पुरुषार्थ के बाद में उससे कुछ अतिरिक्त सहायता मिल रही है हमारा विचार का केंद्र महर्षि के इस वाक्य को ध्यान में रख के है और महर्षि का अभिप्राय उस तरह का प्रतीत हो रहा है बाकी तो विचार करेंगे यदि ये सिद्धांत के अनुरूप नहीं आता है तो ठीक है हम तो खुले रूप से विचार कर रहे हैं इसमें हाँ सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है ठीक है सत्यार्थ प्रकाश समूलात सात जिसमें उत्साह और सहाय का मिलना ये उसमें सातवें का ही बोल रहे हैं आप हाँ, सातवें में मिला है, है ये ठीक है और कोई बोलना चाहते हैं ऊंचा ऊंचा बोलो तो कामना पर फल पुरुषार्थ के हिसाब से अतिरिक्त यही बोला कामना का फल हमने जो किया है हम चाहते हैं कि इसका फल मुझे इस रूप में मिले ठीक है उसके अनुरूप यत काम आस्ते जो हुआ तन्नो अस्तु ये जो सारी बात है वो इस पंक्ति पे प्रमाण पे आधारित है और इसका जो अर्थ महर्षि ने किया है जिस जिस कामना वाले हम आपकी वांछा करें और आपका आश्रय लें कामना पूर्ण होवे यत काम जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग ते आपका आश्रय लेवे और वांछा करें वह कामना हमारी सिद्ध होवे ठीक है तो सीधे सीधे यहाँ वो प्रार्थना शब्द भी नहीं है तो इस अंश को हम यदि कामना के साथ में जोड़ लें हमारी कामना के अनुरूप ईश्वर हमें फल देता है ठीक है इसमें अतिरिक्त सहायता का मिलना नहीं है फल वो देता है ये उसकी हमारे को सहायता है वो तो सबको है ठीक है अच्छे बुरे सब कर्मों का वो फल देता है वो एक अलग बात हो गई हाँ तो ये कामना का जो है वो इसके इससे जुड़ेगा तो आपने परसों किया था उसमें जब बात चल रही थी तो प्रार्थना का जो फल जो बताया था आपने इस तरह का बोला था कि प्रार्थना का फल वो होता है जो अतिरिक्त मतलब कर्माशय के हिसाब से मिलता है तो बाद में जो कर्माशय बाद में जो प्रयोग नहीं किया था कर्माशय से मिलता है ऐसा बोला था फिर कल मैंने जब आपसे पूछा था रात्रि में तो फिर आपने कहा था कि वहां पर प्रार्थना नहीं है वहां पर कामना है तो कर्माशय से मिलेगा उसको कामना से लेना चाहिए हाँ, ये उसको कामना से लेना चाहिए ठीक है और कुछ कदम आगे बढ़ेगा तो और बढ़ा लेंगे अगर कहीं अशुद्धि लगी तो तो संशोधन के लिए बैठे संशोधन कर लेंगे ठीक है अभी आप ये बताओ प्रार्थना और कामना में भिन्नता वाला पक्ष लेके जो हम चल रहे हैं वो सहज स्वीकार्य हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें क्या कोई एक रूपता भिन्न हम मान के चल सकते हैं ना वो पर प्रसंग वो सारा जो कर्माशय वाला था उसको हम कामना तक रख लेंगे और उसको बोलने में मैं भी सावधानी रखूंगा कि वहां प्रार्थना शब्द न आ जाए ठीक है तो वो एक सिद्धांत अपना अलग रह सकता है और उसके अतिरिक्त जब हम प्रार्थना कर रहे हैं सहायता की कामना कर रहे हैं परमात्मा से प्रार्थना में हम सहायता की कामना कर रहे हैं सहायता को चाह रहे हैं ये प्रार्थना अलग रूप हो गया वहां परमात्मा की सहायता का मिलना ठीक है बोलो प्रार्थना और कामना का अलग अलग करने के लिए मुझे वचन याद आ रहा है तो मतलब- बोलो वाक्य बोलो बोलो

नहीं तो ये तो फिर वो दूसरी बात हो गई हो तो यानी प्रार्थना और याचना भी हम तो अभी जो सोच रहे हैं वो प्रार्थना और याचना को ए, <laughs> एक मान करके चल रहे हैं ना ईश्वर प्रार्थना विषय देखिए प्रार्थना और याचना में भी भिन्नता हो सकती है याचना में कुछ अधिक दीनता का भाव है ये थोड़ा हम अंतर कर सकते हैं लेकिन याचना भी एक तरह की प्रार्थना है, है? लेकिन कामना जो है वो एक अलग विषय होगा ईश्वर प्रार्थना विषय हाँ तो इसमें हाँ ब्रह्मानंत जो ब्रह्म अनंत आदि विषय वो आपने कर ठीक है श्रीवास्तव जी प्रार्थना तो जो है ये कर्माशय में ऐड हो जाती है और उसके बाद जो फल है वो कर्माशय में सिद्ध होता है तो ये सिस्टम जो सहायता के रूप में है वो अभी मिले या बाद में मिले आपका अभिप्राय ऐसा है कि प्रार्थना भी एक कर्म है उस प्रार्थना से भी कर्माशय बनेगा और कर्माशय बनेगा तो अतिरिक्त फल मिल जाएगा ये जो कल थोड़ी सी बात चली थी कि जब ये आक्षेप आता है कि परमात्मा कर्म के अनुसार फल नहीं देगा यदि प्रार्थना का फल दे देगा तो फिर प्रार्थना को भी ऐसा कर्म मान लेते हैं जिससे कर्माशय बनता है मेरी अभी समझ में जैसा आ रहा है आप लोग भी अपना विचार और रख सकते हैं कि प्रार्थना ऐसा कर्म नहीं है जिससे कि कर्माशय बने प्रार्थना प्रार्थना से संस्कार पड़ेगा अपने पे किसी भी कर्म का संस्कार पड़ेगा लेकिन सब कर्मों का कर्माशय नहीं बनता है तो प्रार्थना ऐसा कर्म नहीं प्रतीत होता जिससे कि कर्माशय बनता हो प्रार्थना एक कर्म है प्रत्येक कर्म का कर्माशय नहीं बनता ऐसी समझ है कर्माशय में चलो वो और फिर कर्माशय वाला विस्तार हो जाएगा इसके विपरीत अगर कोई प्रमाण दिखता हो तो बोलेंगे आप लोग सोमदेव जी हाँ स्तुति प्रार्थना और उपासना प्रार्थना स्तुति और प्रार्थना से भिन्न जो उपासना है उसका उपासना का अर्थ होगा कि ईश्वर के गुणों को प्राप्त करना वही उपासना है और स्तुति और प्रार्थना का फल एक तरह से उपासना के रूप में हमें मिलता है ठीक है उस वस्तु की प्राप्ति के रूप में मिलता है अलग से उसका कोई कर्माशय ये फिर विचारणीय बिंदु है यद्यपि कि उससे भी कोई कर्माशय बनेगा बनेगा या नहीं बनेगा ये एक फिर थोड़ा विवादास्पद विषय है कि इसमें बनेगा या नहीं बनेगा मैं जैसा समझ पाया हूं योग दर्शन के अनुसार खासतौर से जो कि चर्चा वैदिक विद्वत परिषद में भी हुई थी और उसमें हम पक्ष विपक्ष में थे <laughs> मेरा पक्ष अलग था कि जब तक परोपकार और परापघात नहीं हो परोपकार होगा तो पुण्य बनेगा और परापघात होगा तो पाप बनेगा पर चूंकि दूसरे भी कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां परोपकार और परापघात नहीं है वहां भी पुण्य की पाप की बात आती है जो कि मुक्तानंद जी संकेतित करना चाहते हैं स्वामी जी बताइए उस पंक्ति पे विचार कर लेते हैं वो पंक्ति ये किस प्रसंग में है कि शुक्ल कर्म किनके होते हैं यही बात है तो कहा तप स्वाध्याय ध्यान वताम तप स्वाध्याय और ध्यान करने वालों के या ये नहीं कहा गया है कि तप भी एक शुक्ल कर्म है ध्यान देना स्वाध्याय भी शुक्ल कर्म है ये पंक्ति नहीं कह रही है बताम तप स्वाध्याय ध्यान वालों के जो कर्म होते हैं इनको जो करते हैं उनके जो कर्म होते हैं तप स्वाध्याय ध्यान वालों के पंक्ति तो ये कह रही है यद्यपि जो बात आप कह रहे हो वो अर्थ भी वहां से लेते हैं और लिया जा सकता है वो एक विचार नहीं लेकिन मैं उसमें थोड़ा बाधक बन करके खड़ा हो गया हूं <laughs> कि वो तप स्वाध्याय ध्यान वालों के शुक्ल कर्म होते हैं वो जो कर्म करते हैं और खासतौर से वहां मानस कर्मों की बात है बाह्य साधन से रहित अबाह्य साधनाधीन होने से हेतु आदि वहां पर दिए कि क्यों उसमें कृष्णता नहीं रहती है क्यों वो शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म नहीं होते हैं क्यों वो शुक्ल कर्म हो जाते हैं इसको समझाते हुए जो व्यास जी ने लिखा उसमें क्योंकि वो अभही साधनाधीना बाह्य साधनों से युक्त तो नहीं होते हैं तो तस्मात परान पीड़ित्वा न भवंती दूसरों को पीड़ित नहीं करते हैं उनके कर्म ठीक है फिर भी मैं इसको एक विचारणीय बात करूं पर प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना से कर्माशय बनता है इसका यदि कोई शब्द प्रमाण मिले तो उसके लिए और विचार कर लेंगे तो उसका उस रूप में अतिरिक्त फल हम नहीं मान सकते और इसमें यह भी विचारणीय बिंदु है यदि हम कहें कि मान करके कह रहा हूं यानी इसको बोलते हैं अभ्युपगम से न्याय दर्शन में आएगी बात आपकी बात को मान करके और कुछ ऊहा पोह कर तर्क कर रहा हूं किसी बात को मान करके यदि ये माना जाए कि प्रार्थना भी एक कर्म है ऐसा कर्म जिससे कि कर्माशय बन रहा है और इसलिए कर्माशय बनने के कारण से फल भी हमें अतिरिक्त मिल जाएगा ये प्रार्थना का फल ठीक है यदि ऐसा है तो ये प्रार्थना भी पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आएगी ये प्रार्थना जिस प्रार्थना को हम ऐसा कर्म मान रहे हैं जिससे कर्माशय बन रहा है और उसका फल मिल रहा है तो ये <laughs> बताओ जबकि यहां क्या वाक्य है थोड़ा मैं वाक्यों को ज्यादा पकड़ लेता हूं कुछ किसी को कोई दिक्कत हो तो क्षमा करना लेकिन ये तात्पर्य है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना की जाती है इस वाक्य से ये संकेत मिलता है कि प्रार्थना पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं है यद्यपि एक किसी अंश में हम प्रार्थनाओं को भी पुरुषार्थ कह सकते हैं क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन इस वाक्य में जिस संदर्भ में हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं यहां पुरुषार्थ से भिन्न प्रार्थना को माना गया है दूसरी बात एक और प्रश्न इसमें उठता है यदि प्रार्थना करने से कर्माशय बनता है और जितना कर्माशय बनता है वो कितना बनेगा और एक है पुरुषार्थ करने से भी कोई कर्माशय बन रहा है सिद्धि उसी चीज की हो रही है जिस चीज के लिए हमने पुरुषार्थ किया प्रार्थना हमने उसी चीज की की है पुरुषार्थ भी किया और प्रार्थना भी की अब आपने जिस ढंग से बात को रखा उसमें पुरुषार्थ का भी कर्माशय बना और प्रार्थना का भी बना एक व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद में फिर और फल के लिए और पुरुषार्थ कर लेगा एक व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में कुछ और प्रार्थना करेगा तो वो जो कर्माशय बनेगा वो प्रार्थना का कितना बनेगा और पुरुषार्थ का कितना बनेगा किसका ज्यादा बनेगा अगर दोनों ही वहां पर हैं वो कोई कह सकता है मैं प्रार्थना नहीं करूंगा मैं पुरुषार्थ को ही थोड़ा और करूंगा तो मुझे ऐसा समझ में इसमें आ रहा है कि पुरुष प्रार्थना को हम पुरुषार्थ में नहीं लें और प्रार्थना का जो फल है ये कर्माशय बनकर के उससे जो मिलने वाला है तो ये ईश्वर से कोई सहायता मिली है वो नहीं कह सकते यहां क्या है ये ईश्वर से सहायता की प्राप्ति है यदि हम ये कहते हैं ये सारा मैं तर्क को कर रहा हूं जो अभी न्याय दर्शन में आज ही हमने पढ़ा है कि कैसे वहा तर्क करते हैं ये प्रमाण क्या सहायक या प्रमाण का खंडक होता है ऐसा यदि हम ये मानते हैं कि प्रार्थना की ये एक कर्म था और इससे कर्माशय बना और इसका फल देने के कारण से हम कह रहे हैं कि ये ईश्वर की सहायता प्राप्त हुई तब तो जो पुरुषार्थ हमने किया था पहले उसका भी कर्माशय बना था और उसका भी जो फल ईश्वर ने दिया वो भी ईश्वर की सहायता ही है तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद कर्माशय का जो फल मिलेगा उसके अतिरिक्त ये ईश्वर की सहायता कही जा रही है तो इस प्रार्थना को इस प्रार्थना के फल को तो हमें ईश्वर की सहायता अतिरिक्त सहायता जो कि कर्माशय से आ रही है उससे भिन्न मानना पड़ेगा नहीं तो फिर तो वो तो एक ही बात हो जाएगी तो वक्ता का महर्षि के इस कथन का प्रयोजन ही नहीं बचेगा आप वाक्य को जितना जितना ध्यान से देखेंगे हम विचार करते हैं तो उसी में ही बहुत सारी बातें आती हैं कि ऐसा अर्थ लेंगे तो इस वाक्य से ये नहीं निकाल सकते और कोई कुछ कहना चाहते हैं आपका हो गया और स्वामी मुक्तानंद जी नहीं आपने विचार किया क्या निष्कर्ष निकला उसी मूल प्रश्न पे हम आते हैं बोलो तुरंत हम्म। हम्म। जोर से बोलो नहीं प्रार्थना तो कर रहे हैं उस प्रार्थना से अतिरिक्त सहायता ईश्वर से मिलती है या नहीं मिलती ये हमारा विचारणीय बिंदु है कर्म निरपेक्ष कर्म कारण तो बनेगा कर्म आधार तो बनेगा कि कर्म करने के बाद पूर्ण पुरुषार्थ के बाद ही सहायता मिलती है इस रूप में तो वो आधार आवश्यक है लेकिन प्रार्थना से जो सहायता मिल रही है ईश्वर से वो पुरुषार्थ के से बने कर्माशय से भिन्न कुछ है वो है या नहीं है ये विचार की बात है आप कौन सा वचन हैं ये ईश्वर प्रार्थना विषय में ये पंक्ति बता रहे हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का और आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हमसे दूर रहें कि जिससे इस वेद भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो कृपा के सहाय से सब विघ्न दूर हो महर्षि को जो करना था वो तो कर ही रहे हैं भाष्य के लिए प्रवृत्त हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं विघ्न बाधाओं को दूर कर रहे हैं लेकिन ये कृपा से के सहायता है तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य बुद्धि सज्जनों का सहाय चतुरता और सत्य विद्या का प्रकाश सदा बढ़ता रहे इस भद्र स्वरूप सुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हमको दीजिए जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाए वेद हैं उनके यथार्थ अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करें पहले ये लिखा है लिखते से तो पूर्ण पुरुषार्थ किया नहीं है अभी तो अभी तो पढ़ेगी तब पूर्ण पुरुषार्थ कहलाएगा तो ये अब ये वाला भाग दिख तो रहा है प्रार्थना का उधर अब आप उसे कामना करेंगे या प्रार्थना करेंगे और नहीं ये प्रार्थना जैसा लग रहा है फिर भी और विचार कर लेंगे आपने बात रखी लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पर ये है कि जो आपके प्रश्न में भी है कि पूर्ण पुरुषार्थ से पहले भी प्रार्थना हो सकती है क्या और उसमें क्या दोष आएगा तो आप एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि महर्षि ने नकार क्यों रहे हो संकोच क्या है कोई महर्षि के प्रति अश्रद्धा तो न कर रहे हैं ये विचारने की बात है आपने बात को देखा आपका ही प्रश्न है ये कि यहाँ जो ये प्रार्थना महर्षि ने लिखी है यदि हम इसको प्रार्थना मानते हैं यदि ये कामना सिद्ध होती है तो ठीक है फिर तो हट जाएगा आक्षेप नहीं तो आपने जो एक संकेत किया कि यहाँ प्रार्थना है और ये वेद भाष्य के प्रारंभ में है प्रार्थना की जा रही है तो पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाए इसकी अनिवार्यता नहीं रही यानी कर्म करने से पहले भी हम प्रार्थना कर सकते हैं ये आएगा और वहां लिखा है महर्षि ने कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है तो ये विरोध प्रतीत हो रहा है पर पहला हमारा प्रयास क्या होगा इस विरोध को हटा दिया जाए जिसको कि स्वामी मुक्तानंद जी और सोमदेव जी मिटाने को उद्यत हैं सोमदेव जी आप कुछ कह रहे थे मुक्तानंद जी जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके जितना अपने से प्रयत्न हो सके हाँ। पूर्ण के साथ से पहले भी हम कर सकते जितना प्रयत्न पुरुषार्थ हम कर सकते उतना किया हम इसके बाद कर सकते नहीं ये पूर्ण पुरुषार्थ में ही आएगा उनका जो प्रश्न था श्रीवास्तव जी का कि पूर्ण पुरुषार्थ हम किसे कहेंगे ये एक प्रश्न था उनका ये उसका भी उत्तर है उसको मैं पहले आपके सामने रख दूं महर्षि ने एक जगह कहा पूर्ण पुरुषार्थ की बात और दूसरा जो यहाँ पर स्वमंतव्य अमंतव्य में जो पढ़ा है अपने सामर्थ्य के उपरांत और आपने जो वाक्य बोला समुलास हाँ फिर से बोलिए पंक्ति सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें ये पूर्ण पुरुषार्थ है अपनी सामर्थ्य के उपरांत किसी की सामर्थ्य कम किसी की अधिक हो सकती है पूर्ण पुरुषार्थ की कोई ये सीमा नहीं है कि इतना करेगा तो पूर्ण पुरुषार्थ कहलाएगा महर्षि के वचन ही बता रहे हैं अपनी सामर्थ्य के उपरांत जैसे दो तो छोटे बच्चे हैं एक बिल्कुल छोटा शिशु है और एक बड़ा है अब वो फल तोड़ना है उनको पेड़ से माता पिता ने कहा कि नहीं पहले आप अपना पूरा पुरुषार्थ करो तब देंगे वो छोटे बच्चे का तो पुरुषार्थ पेड़ पे चढ़ने का भी नहीं है वो तो पांच तक पहुंच गया उतने से ही कि हाँ इसने मेहनत कर ली और अब इसको फल दे देंगे <laughs> और जो बड़ा बच्चा है वो वहां वृक्ष तक जाए वो कहे कि इसको तो आपने दे दिया ये, ये तो आपको और पुरुषार्थ करना है आपकी सामर्थ्य अधिक है आपको ऊपर जाना है तो पूर्ण पुरुषार्थ ये मेरे ख्याल से आप लोग सब सहमत होंगे इस बात से और यही अभिप्राय महर्षि का निकल के आएगा पूर्ण पुरुषार्थ का मतलब ये कोई सीमा नहीं है कि सबको उतना करे तो उसे पूर्ण पुरुषार्थ कहेंगे कि सौ जितना करे तो अस्सी करे तो पूर्ण पुरुषार्थ कहलाए जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसके अनुरूप उसने पूरा पुरुषार्थ कर लिया वो कम या अधिक हो सकता है बस ये प्रार्थना के पहले की अनिवार्यता बताई गई है तीनों इनसे संगति में भी यही प्रतीत होता है आपके प्रश्न का समाधान हुआ होगा पूर्ण पुरुषार्थ का ये हमको लेना होगा महर्षि का अभिप्राय ये है और संग, संगत भी है हाँ सुनते जी आप नई बात कह रहे हो या इनके वाले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं देखो हाँ हम्म। नहीं पुरुषार्थ चल रहा था आपका वाक्य ये <laughs> आप जिस बात को सिद्ध करना चाह रहे हो उसमें ही शिथिलता अब, वो मानसिक रूप से आप लोगे <laughs> तो ये प्रश्न आएगा ये कर देंगे कि क्या मानसिक रूप से पूरा करने को पूर्ण पुरुषार्थ मानोगे नहीं इसका कुछ और समाधान भी तो कर सकते हैं हम कोई बताएंगे पूरा भाष्य का भी महर्षि ने मानसिक की कर लिया हो ऐसा नहीं कह सकते ना देखिए महर्षि यहां जिस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं कि पूर्व पुरुषार्थ नहीं है वो क्यों देख रहे हैं ये रविशंकर जी क्योंकि अभी भाष्य पूरा नहीं किया लेकिन भाष्य करने के लिए जो तैयारी हो सकती है होनी चाहिए व्याकरण पढ़ लिया निरुक्त पढ़ लिया इधर उधर भटक लिए जहां भटकना था उनको चिंतन किया कितने ग्रंथ पढ़े तीन हजार या उससे भी ज्यादा कितने कहते हैं साधन जुटाए कागज पेन पेंसिल भोजन स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी खूब किया उस पुरुषार्थ में क्या महर्षि के कोई कमी आपको दिखाई देती है महर्षि ने सारे साधन जुटा लिए वेद भाष्य करने के लिए <laughs> नहीं पूर्ण पुरुषार्थ अब वो प्रार्थना कर रहे हैं ये कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे अभी तक तो अच्छा किया और आगे भी करेंगे वो लेकिन इसका सहयोग मिले सत्संगों का विद्वानों का संग उन्होंने नहीं किया पहले जितना कर सकते थे आप और हम तो उतने भटके भी नहीं है जितने वो भटक लिए या जितने कष्ट उन्होंने झेल लिए उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया इस विषय में ये जो वचन है जो हमें पहली दृष्टि में ये दिखाई दे रहा था कि महर्षि ने पूर्ण पुरुषार्थ के बिना पहल पूर्ण पुरुषार्थ पूर्ण पुरुषार्थ से पहले ही प्रार्थना कर दी इस वाक्य को बोलते हुए पूर्ण पुरुषार्थ का अर्थ आपके मन में क्या था वेद भाष्य यही तो था ना कि वेद भाष्य तो अभी पूरा ही नहीं किया क्योंकि वेद भाष्य को करने का पुरुषार्थ अभी करना है वो मान करके आप देखेंगे तो आप ये कहोगे कि पूर्ण पुरुषार्थ से पहले ही ये प्रार्थना कर रहे हैं वो तो करेंगे आगे वो भाष्य होगा वो ईश्वर से सहायता प्राप्त करेंगे अर्थ करेंगे वो सब चीजें तो आगे होंगी यहां जो कामना की गई है कि ऐसा ऐसा हो जाए तो ऐसा ऐसा होने के लिए जो प्रार्थना की गई है उसके लिए महर्षि ने क्या तैयारियां नहीं कर ली थी पूर्ण पुरुषार्थ उसमें कहाँ कमी दिखाई देगी आपको तो वेद भाष्य के पहले ये प्रार्थना की गई है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पुरुष पुरुषार्थ किया था तो इन दो वाक्यों को महर्षि के हम विरोध के रूप में नहीं देखेंगे उन्होंने अपनी तरफ से ये पुरुषार्थ करके अब परमात्मा से सहायता चाह रहे हैं कि सज्जनों का सहाय मिले आरोग्य और बुद्धि मिले आरोग्य के लिए महर्षि ने प्रयास किया बुद्धि बढ़ाने के लिए महर्षि ने सारे प्रयास किए होंगे हमारे से कई गुना अधिक सत्य विद्या के प्रकाश के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने वेद भाष्य तक किया है सारा अब उस सत्य विद्या का प्रकाश वो और बढ़ाना चाहते हैं वेद आदि के माध्यम से वेद के मंत्रों के माध्यम से तो इतने मात्र से हम इसको यूं कह दें कि ये पूर्ण पुरुषार्थ के पहले इन्होंने किया वेद भाष्य को यहां नहीं लेना चाहिए मेरी समझ से खोले जैसे लौकिक व्यक्ति होते हैं मतलब किसी भी लक्ष्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं तो उससे अगर उससे पहले की तैयारी को अगर वो पुरुषार्थ को लेके चले तो ऐसे तो वो अपनी पूरी पहले की तैयारी जो करनी चाहिए उस लक्ष्य के लिए वो पहले चलते बैठते हैं तो चालू बिल्कुल कर सकते हैं ये महर्षि का उदाहरण भी है आपने जो स्वयं ने दिया इससे हम ये संकेत ले सकते हैं वैसी का ये वचन ये संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि हम किसी बड़े कार्य के लिए लगे हैं जो कार्य कई महीनों या सालों में पूर्ण होने वाला है या मानो योगाभ्यास है जो कि जीवन भर चलने वाला है हमारे अगले जितना भी समय है हमारा तो उसके लिए अभी जितना पुरुषार्थ वर्तमान के कदमों के लिए जो पुरुषार्थ हमें करना था वो हमने किया और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं ईश्वर को ये जो पुरुषार्थ मैंने जिसके लिए किया है आगे जो मैं करना चाहता हूं जिसके लिए ये सारी सज्जा पुरुषार्थ किया है अब तक जितना पुरुषार्थ होना चाहिए वो मैंने कर लिया है वो प्रार्थना कर सकता है आगे के लिए तो मतलब बिल्कुल कर सकते हैं करते ही है वो तो कि मैंने दिन में पुरुषार्थ किया है और अब मैं उपासना के काल में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं उतने अंश में आप कर सकते हैं अगर यू माना जाए कि ज्ञान की प्रार्थना करनी है तो हम पूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे तब प्रार्थना करेंगे क्या तब तो कामना ही नहीं रहेगी अभी जितना हम कर सकते हैं उतना हमने किया प्रयत्न ज्ञान की यात्रा तो बहुत लंबी है चलती जाएगी अभी जितना कर सकते हैं वो हमने किया और हम कामना कर रहे हैं कि मुझे ज्ञान मिले और मिले प्रार्थना कर रहे तो विषय को यहीं अधूरा छोड़ें स्थगित करें आगे और चर्चा करने के लिए बोलिए इनका प्रश्न है कि आर्याभि विनय में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो शुद्ध प्रार्थनाएं ही हैं या कामनाएं भी हैं प्रार्थना में कामना है वो मिली हुई है वो सारी प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की है महर्षि ने ठीक है अगर शीर्षक से निरपेक्ष मंत्रों को देखें वैसे अभी हम थोड़ा थोड़ा कर ही रहे हैं एक एक मंत्र आता जाएगा ये भी एक विचारणीय बिंदु हो सकता है उसमें कुछ जगह केवल कामना हो हो सकता है अगर ऐसा आएगा तो जहां कामना वाला भाग है तो हम कामना का कर लेंगे कामना को भी प्रार्थना शब्द से कहा जाता है गौण रूप से ये तो हम खासतौर से प्रार्थना पे ही केंद्रित हैं इस परिभाषा पे ये एक परिभाषा दी गई है एक होता है सामान्य कथन करना व्यवहार में सब जगह उसी परिभाषा के अनुसार नहीं चलता कई बार व्यापक अर्थ भी लिए जाते हैं गौण अर्थ भी लिए जाते हैं ये तो हम बिल्कुल परिभाषा पे केंद्रित हैं फल पे जो बांध करके की गई है उसमें शिथिलता नहीं ले सकते हम वहां फिर भी ले सकते हैं यहाँ प्रार्थना और कहीं कामना के अर्थ में भी हो अगर ऐसा मिलता है तो वो मान लेंगे ठीक है इसको इतना इतना रखते हैं कोई अपने किन्होंने विचार किया हो कल से और कुछ कहना चाहते हो तो वो एक अवसर अवश्य है और नहीं तो और आप लोग भी विचार कीजिएगा ये बिंदु महत्वपूर्ण है गंभीर है और विचारणीय बिंदु है पूर्ण शब्द नहीं है इससे हम पूर्ण ले सकते हैं यहाँ जो विशेष कहा गया और पूर्ण विशेषण ना लगा हो तो भी वहां हम पूर्ण अर्थ ले सकते हैं और लेकिन पुरुषार्थ तो है ही अपना पुरुषार्थ यानी तो जितना हम कर सकते हैं उतना वो तात्पर्य वहां लिया जा सकते हैं सूचना मैं प्रार्थना का निषेध नहीं कर रहा हूँ ये जो सारी चर्चा चल रही है ये मैं प्रार्थना के खंडन के लिए थोड़ा ना कर रहा हूँ जी हाँ तो वो एक प्रा, एक प्रार्थना शीर्षक है वो हमें प्रार्थना करनी होती है हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए साधक की क्या प्रार्थना होनी चाहिए एक निष्काम कर्ता की क्या प्रार्थना होनी चाहिए वो एक विषय वो एक भावनात्मक विषय है वो ये जो सारी चर्चा चल रही है एक सिद्धांत के लिए चल रही है और कसौटी पे कस के हम ठीक निर्णय पे पहुंचना चाह रहे हैं सिद्धांत के अनुरूप हम ईश्वर की सहायता के स्वरूप को निर्धारित करना चाह रहे हैं ईश्वर की सहायता प्रार्थना से जो मिलती है वो क्या है क्या हो सकती है सूचना